है समझते हैं या मैं समझाऊ कैसे चढ़ाते हैं नहीं समझे आप बताओ चढ़ाते हुए या नहीं चढ़ाते हम्म? बोलो नहीं आपको समझ में ही नहीं आता तो नहीं चढ़ाता हम्म? है जहाँ तक ध्यान आ रहा है हाँ हाँ नहीं हाँ ऐसे भी कर देते होंगे किसी ने भूल कर दी किसी से काम लिया था वो छूट गया और उसने कहा कि किसने छोड़ा है ये अमुक ब्रह्मचारी छोड़ा ये तो ऐसा ही करता रहता है ऐसे नहीं बोलते कभी है? हाँ करो या ना करो तो ये योग में बाधक नहीं है है? फिर क्यों बोलते हैं वैसा हाँ जी तो निंदा चुगली और दोषारोपण तो चलता ही रहता है चलता ही रहता अपना बताते हो दूसरों का नहीं सब वाला नहीं पूछ रहे अपना बताओ सब वाले को तो सब कह देंगे अपना बताना है बस कभी कभी तो वही नहीं होना है बस अब वो उतारे फिर भी यूं ही आते आप कभी कभी हो जाता है फिर छह महीने के पीछे ये क्या मतलब हुआ आज पता चल गया तो कल नहीं होना है बस बस ऐसा ही ऐसा ही होता नहीं तो दोषी दोषी व्यक्ति पड़े रहते हैं दुनिया भर में पचास वर्ष तक वही दोष के अंदर पड़ा रहता है हो जाता है हो जाता है स्वभाव है हो जाता है क्या बेकार की बात कर जब दोष है तो टकराओ और उखाड़ के फेंको उसको आपको सुनाया सिखाया गया जो व्यक्ति दोष से प्यार करता है वो कभी उस दोष से नहीं छूट सकता कभी देख लो प्रयोग करके जो दोष का अत्यंत विरोधी है कभी दोष से प्यार नहीं करता चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो व्यक्ति छूट जाएगा दोस्त योग के विरोधी विचार जब कभी व्यक्ति सब को लेके सोचता है विचार करता है वो अपने लिए जो सुख और सुख साधनों को जितनी मात्रा में चाहता है उतनी मात्रा में सुख और सुख साधनों को दूसरे के लिए नहीं चाहता आत्मनिरीक्षण करो आप फिर से सुनो जितने स्तर पर जितनी मात्रा में अपने लिए वो सुख और सुख साधनों को चाहता प्रयास करता उपलब्धि करने का प्रयत्न करता है उसी स्तर पर उतनी मात्रा में सुख और सुख साधनों को दूसरे के लिए व्यक्ति नहीं चाहता ये स्थिति योग की विरोधी नहीं है विरुद्ध विचारधारा अपना बताओ कभी ऐसा होता है क्या नहीं अपना अपना बताओ है होता है तो उसको उखाड़ो दोष करने का अभ्यास करने करते करते व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है दोषों से उसका प्यार हो जाता है प्रेम या राग हो जाता है दोषो में विराम होता है कई बार आपने देखा होगा जो झगड़ालू व्यक्ति होते हैं जब तक दिन में एक दो बार झगड़ने ले उनका जी नहीं लगता नहीं देखे दुनिया में से लोग एक दो बार जब तू तू में, में तनाव न करे किसी के साथ जाओ आके तब तक उनका मन ही नहीं बढ़ता मानसिक स्तर पर ये विचारधाराएं जो चलती रहती हैं ये व्यक्ति के जीवन में अधिक बाधक होती हैं और वो व्यक्ति इनको लेते रहे लेता रहे चलता जाए लेता रहे ऊंचा नहीं उठ सकता मानसिक विचारों में और देखो मानसिक विचारधाराओं में एक धारा है उस व्यक्ति का प्रेम लौकिक वस्तुओं में है सांसारिक वस्तुओं में खाने में पीने में धन संपत्ति में है उतना प्रेम उसका ईश्वर में नहीं है ये धाराएं ऐसे चलती है जब ये धारा व्यक्ति की बनी रहेगी खाने में पीने में धन संपत्ति में मान में रुचि अधिक है ईश्वर में इतनी नहीं है तो ये स्थिति व्यक्ति की योग में आगे बाधक बनेगी ही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकते इसको उभारना पड़ेगा आगे बढ़ाना पड़ेगा मध्य मध्य में देखते रहना पड़ेगा कि मेरा स्तर विचारों की धारा क्या ऐसा है मैं लौकिक के वस्तु धन संपत्ति खाने पीने में अधिक रुचि रखता हूं और ईश्वर में कम क्या ऐसी बातें होती हैं दिन में हाँ होती है तो होती है तो उनको रोकता है रोकता रहता है रोकने की बात दोष देखता है उनमें उनमें दोष देखता जाता है ईश्वर में प्रेम न होना इस, इसको दोष युक्त समझता है विचारधारा को इतना ही नहीं अधिक बल देता है तो अपने आप को नास्तिक कहता है नास्तिक जैसा ईश्वर का गुणकर्म स्वभाव है और जैसा हमको ईश्वर के साथ व्यवहार करना चाहिए यदि हम उस अंश में नहीं करते तो उतने अंश में हम नास्तिक हैं समझ में आया नहीं आया उतने अंश में हम नास्तिक हैं स्वयं को देख करके ये जान लेना चाहिए जितना ईश्वर से प्रेम होना चाहिए जितना ईश्वर का प्रभाव हमारे ऊपर होना चाहिए जितनी ईश्वर की आज्ञा को लेकर व्यवहार में उतारने का प्रयास करना चाहिए वो उतने अंश में हम नहीं करते तो हम उतने ही अंश में नास्तिक माने जाते हैं इस नास्तिकता को हटाने के लिए ईश्वर के गुणों को ईश्वर के बल को आनंद को ज्ञान को सारी उसकी कृपा और इतना उपकार करता है उसको हम सामने लाते हैं उसको समझने का प्रयत्न करते हैं तो ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है जब व्यक्ति ये देखता है कि ये जो शरीर मुझे मिला है इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया नशनाड़िया हृदय जैसे अंग जिनसे मैं जीवित हूं जिनसे मैं सोचता हूं जिनसे मैं कर्म करता हूं जिनसे मैं ज्ञान करता हूं उपासना करता हूं धन कमाता हूं दौड़ धूप करता हूं सब कुछ करता हूं यदि ईश्वर इसको बना के मुझे न देवे तो मैं न ज्ञान कर सकता न कर्म कर सकता न उपासना कर सकता कुछ भी नहीं कर सकता ऐसे विचारते रहना पड़ता है ऐसे मंथन करते रहना पड़ता है बार बार तो नास्तिकता के जो विचार होते हैं वो कमजोर पड़ते जाते हैं ईश्वर की महत्ता को न जानने देने वाले विचार कमजोर होते जाते निर्बल होते जाते ईश्वर की महत्ता को समझने वाले विचार उभरते जाते प्रबल होते जाते विद्या अविद्या का स्वरूप इसमें हमारे साथ रहता है अर्थात जब अविद्या उभरती है तो नास्तिकता उभरती है जब विद्या उभरती है तो आस्तिकता उभरती है जब अविद्या उभरती है नास्तिकता उभरती है तो व्यक्ति क्या कहता है अविद्या उभरती हुई को मारता है मिटाता है उखाड़ता है वो कमजोर पड़ जाती है जब अविद्या कमजोर पड़ जाती है तो नास्तिकता भी कमजोर पड़ जाती है कुछ काल पहले व्यक्ति ईश्वर में बड़ी आस्था श्रद्धा रुचि रखता है आधा घंटा पहले बहुत रुचि बड़ी आस्था विश्वास और आधा घंटा के पीछे उस ईश्वर में जो आस्था थी जो विश्वास था प्रेम था वो खत्म आधा घंटा के पीछे क्यों हुआ ऐसा आप ऐसा देख सकते हैं यदि परीक्षण करना हो गंभीर सूक्ष्म सार गर्भित उपदेश सुनो बड़े रुचि से सुनो आप में इतना उल्लास होगा इतना उत्साह होगा ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी और जचेगा कि शत प्रतिशत ईश्वर ठीक है अब आधा घंटा आपने ध्यान नहीं दिया इधर की बात उधर की बात इधर की बात उधर की बात दूसरी बातें याद कर ली कुछ घटनाएं पीछे की दौर आई कुछ और बात आ गई कुछ किसी ने ये कर दिया कुछ आपके विषय में लोगों ने चर्चा छेड़ दी अब क्या हुआ वो आधा घंटा के पीछे वही ईश्वर और वही विचारधारा कुछ भी अच्छी नहीं लगती फिर नास्तिकता आ गई क्या ऐसा नहीं होता आप बोलो अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है अब तो मेरे विचार ऊंचे उठे थे उल्लास आ गया था बड़ी श्रद्धा हो गई थी अब क्या हुआ कहने का ये ये विचार मैंने किए मैंने गलत विचारों को इकट्ठा कर लिया ये गलत विचारों को इकट्ठा करने के परिणाम ये निकला कि नास्तिकता वाले विचारों ने आस्तिकता वाले विचारों को दबा दिया वो देखता है बुद्धिमान कि क्यों हुआ ये नास्तिकता के विचार आए इधर की बात सोचना उधर की सोचना और किसी में राग किसी में द्वेष ये तो इससे पहले वाले विचार दब गए और ये मैंने किया किसने ये तो बुद्धिमान कहता ये तो मैंने ही किया अपने आप नहीं हुआ बुद्धिमान जो नहीं है वो कहता मन ने किया है ये बड़ा दुष्ट है बड़ा खराब है घातक है विनाशकारी है ये मन जो है बहुत खराब है उसको गाली देना आरंभ कर दिया मन को और अपने आप पवित्र शुद्ध है निर्लेप ठीक मेरा कोई दोष जो बुद्धिहीन है वो ऐसा सोचता है आप देख सकते हैं मन को आप गाली देना बंद कर दिया आपने आप गाली देते हो मन को ये बताओ आप मन को बुरा भला कहता कहना छोड़ दिया या आप भी कहते हैं मन को बुरा भला छोड़ देता है हाँ जी बोलो दिया छोड़ दिया आपको घटना याद है कई बार व्यक्ति क्या करता है ईश्वर की उपासना करना चाहता है ईश्वर में मन लगाना चाहता है और मन में राग द्वेष ये उभार लेता है वो फिर हटाता है और फिर उभार लेता है और ये फिर ईश्वर के सामने जाके कहता देखो परमात्मा हे ईश्वर ये मन इतना दुष्ट है इन बुरे विचारों को ला ला के खड़ा कर रहा है मैं आपका ध्यान करना चाहता हूँ ये शिकायत परमात्मा के सामने करता है जीवात्मा अब क्या समझ में आया नहीं आया हो तो फिर सुनो आगे, क्या आया जब ध्यान में मन नहीं लगता हाँ और राग के संस्कार बार बार उभरते हैं हम्म। तो वो साधक व्यक्ति ईश्वर के सामने जाकर शिकायत करता है कि देखे भगवान देखो ये मन मानता नहीं है अब मैं चाहता हूँ कि आप मैं ध्यान करूँ और ये मन नहीं मानता अब ये शिकायत करने वाले बहुत लोग हैं अब वो ईश्वर इतना भोला भाला थोड़ा ही है ईश्वर कहता है ये मूर्ख स्वयं तो मन को चलाता है और शिकायत मेरे सामने करता है ईश्वर क्या जानता है, है जी वो तो ठीक ठीक जानता है ये उठाता मुस्लिम है मन को और राग द्वेष को उभारता है शिकायत ये करता है गाली देता है मन को हे ईश्वर ये मन बड़ा खराब है ये देखो मानता ही नहीं मैं तो आपका ध्यान करना चाहता हूं ऐसी शिकायत करोड़ों लोग करते हैं अपने ईश्वर के सामने इन धाराओं को लेकर कितने लोग ऐसा मानते हैं भगवान के विषय में ईश्वर के विषय में ये ठीक है ये ठीक नहीं है भगवान ऐसा है ऐसा नहीं है ये जानने की बात नहीं श्रद्धा चाहिए बस मान लो मान लेने के पश्चात भगवान अपने दर्शन करवा देता चाहे उल्टा सोचो चाहे सीधा सोचो आपने सुना होगा ये जितने मत वाले हैं इनमें करोड़ों में यही धारा चलती उनमें तो उद्घोष के साथ चलती है उद्घोष करते हैं कि ईश्वर समाधि लगवा देता है बेड़ा पार कर देता है पर अपने यहां नहीं कहते परंतु याद रखना आप कहा हैं आप वहां हैं बाहर नहीं कहेंगे बाहर तो नहीं कहेंगे ऐसा लोगों के सामने पर अंदर अंदर परमात्मा के सामने आप भी कहेंगे फिर कहना बंद कर देंगे आप कहना बंद कर दिया पर स्वयं बुराई को उठाएंगे नहीं समझे और स्वयं बुराई को सोचने लग जाओगे ठीक है और फिर उसको हटा दोगे ये बुराई आ गई है फिर बुराई को सोचना आरंभ कर दोगे और बुराई को लाके खड़ा कर दोगे राग द्वेश को और फिर कहा ये भूल हुई तो फिर उसको हटा देंगे अब ये ये घटना आपके साथ घटती हुई देखी जा सकती है यदि आपने परीक्षण किया हो तो बताओ एक उदाहरण देता हूं उसे और स्पष्ट होगा चाहे द्वेष का ले लो चाहे राग का दोनों उदाहरण बन सकते सुंदर रूप आपने देखा वो अच्छा लगा चाहे पहले देखा आज देखा और क्या किया आपने उपासना काल में सुंदर रूप को उभार के खड़ा कर लिया आप और वो दिखने लगा सुंदर रूप आपके मन पर प्रभाव पड़ा बड़ा अच्छा एक जब आपने उस सुंदर रूप को लाके खड़ा कर दिया तब देखा कि देखो सुंदर रूप में तो मेरा राग है अब भी अच्छा लग रहा है ये तो और ईश्वर की उपासना करने बैठा था ये क्यों लाके खड़ा किया इतना पता चलने लग गया आपको मैंने लाके खड़ा किया उसको आपने हटा दिया उपासना करनी है अब ये हुआ क्या फिर उपासना आरंभ कर दी आ उपासना आरंभ करके फिर किसी के प्रति द्वेष था पहले हुआ था या आजकल हुआ उस व्यक्ति के साथ द्वेष हुआ था उसकी आकृति लाके स्मृति वृत्ति में खड़ी कर दी उसने ध्यान देंगे राग के संस्कार को द्वेष के संस्कार को जगाने वाला उभार करके खड़ा करने वाला मैं हूं आत्मा और इतना होते हुए भी वो व्यक्ति इन विचारों को रोक नहीं सकता इतना अभ्यास हो चुका आपने पढ़ा होगा कि मन जड़ पदार्थ है बहुत बार पढ़ा बहुत बार सुना फिर भी आप देख सकते हैं जो मैं उदाहरण दे रहा हूं राग के द्वेष के आपके वहां ध्यान में मिलेंगी ये बातें या नहीं मिलेंगी बताओ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी मिलेंगी जो कि तो मिलेंगी अब आप क्या सोचे कि इसी को पकड़ना है ये क्यों मैं उठा देता हूं क्यों मैं राग द्वेष को उठा करके संस्कारों को बाहर के स्मृति वृत्ति को खड़ा करता हूं यहां से रोकना इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि सारे विचारों तत्काल विचारों को रोक दो कोई विचार विषय न रहे हमारे मन में इतना स्तर बनाना पड़ेगा एक और करना पड़ेगा पहले परीक्षा करो कि अमुक कार्य अच्छा है पहले परीक्षा करो अमुक कार्य इस काल में करना चाहिए या नहीं कितनी बातें आ गई दो दो कौन कौन सी पहले ये कि ये परीक्षा करो कि ये कार्य अच्छा है अथवा बुरा है इसका परीक्षण कर लो पहले यदि आप बिना परीक्षण के कार्य को करते रहेंगे तो ये दोष हटेगा नहीं दूसरी बात ये कि <clears throat> इस कार्य को अभी करनी चाहिए या नहीं करनी नहीं अच्छा। कार्य जो बोल दिया आपने अच्छा। हाँ अच्छे काम को अभी करना चाहिए या नहीं करना? इसका विचार भी करना पड़ेगा नहीं तो होता यह है उपासना काल में जो पठन पाठन का विषय है और भी अच्छे काम हो सकते हैं उपासना काल में वो व्यक्ति दूसरे विषय को जो अच्छा है उसको ले लेता है और उसको ये पता नहीं चलता कि मैंने यदि दूसरा विषय उठा लिया है अच्छा वो और ईश्वर की उपासना काल में उठा लिया तो ईश्वर की उपासना तो छूट जाएगी और उस विषय में वो विचरता रहेगा ईश्वर के साथ संबंध कट जाएगा परिणाम ईश्वर विमुख है हमसे उल्टा विमुख हो जाएगा ईश्वर विमुख होने का परिणाम हमको उसका दंड भोगना पड़ेगा समय विचारते समय अपने ज्ञान को इस स्तर पर नहीं रख पाते कि ईश्वर मुझ में विद्यमान है दोहरा लो विचारते समय सोचते समय कुछ विचारों की काट छाट करते समय किसी काल में प्राय व्यक्ति इस बात को भूल जाता है कि जहां मैं हूं वहां ईश्वर विद्यमान है जब इसी शरीर में व्यक्ति ईश्वर की खोज करता है उस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना या करता है जब जब उसकी अनुभूति ये काम करने लगती है मैं ईश्वर की खोज करने वाला मैं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करने वाला कुछ अलग हूं और ईश्वर मुझे कुछ अलग है ऐसी अनुभूतियां करता है यदि आपको कभी ये बात देखने को मिली हो उपासना काल में तो बताओ पकड़ में नहीं आई हो तो फिर दोहराएंगे समझ में नहीं आई हो तो एक और उदाहरण ले तो शायद और पकड़ में जिस कमरे में आप बैठे उस कमरे में आपके शरीर में भी वायु विद्यमान है पूरे शरीर में और कमरे में भी विद्यमान है आप वायु को प्राप्त करना चाहते हैं वायु और आप इस बात को भूल जाते हैं कि जिस वायु को मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो मेरे कणकण में विद्यमान है शरीर में बाहर भी है ऐसा पराय भूलता है व्यक्ति या नहीं भूलता इस उदाहरण को लेके चलो जी अंगीठी में आग जलाई अंगीठी में आग जलाता हुआ व्यक्ति ये भूल जाता है कि जो अंगीठी में आगे मेरे अंदर व्यापक है उसको पराय भूल जाता है या नहीं भूलता बताओ कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा वेद मुनि जी आ रहे हैं कुछ समझ में आपको भी आ रहा माता जी या नहीं गैस से रोटी बनाने वाला चूल्हे में अग्नि जलाने वाला अंगीठी जलाने वाला व्यक्ति ये अलग बात है जब वो विवेचन करता हो उसको समझ में आ जाती हो कि आग सब जगह है वो ये भूल जाता है कि जो अंगीठी में चूल्हे में आग है गैस जो है वहाँ वो ये नहीं जान पाता कि जैसे ये वहाँ तीव्र है और मेरे शरीर में यही अग्नि जो ये बार है सारे कणकण में मेरे शरीर में विद्यमान है जो अंगीठी में चूल्हे में है ऐसा नहीं जान पाता बहुत यह जान पाता क्यों क्या समझे आप ये उदाहरण दिए जैसे ये नहीं जान पाता वैसे ईश्वर को भी नहीं जान पाता आप विचार करते समय ईश्वर का ध्यान करते समय मंत्र करते समय ऐसा मान करके नहीं चलते जैसे लोहे के गोले में अग्नि मान के व्यक्ति देखता हो उसको ऐसा मान करके ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जहां मैं हूँ वहाँ विद्यमान है जहां मैं नहीं हूँ वहाँ विद्यमान है ऐसा मान के विचार नहीं करता व्यक्ति ये विचारधारा ये मान्यता ईश्वर के से विमुख ले जाती है व्यक्ति अब विराम सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों इस इतने लंबे काल पर्यंत आपने किन किन विषयों में क्या क्या सुना कितना आपने समझने का प्रयास किया आपके व्यवहार में कितनी विशेषता आई विद्या के क्षेत्र में क्या क्या सावधानी आपने अधिगत की उपासना के क्षेत्र में कितना प्रयास विकास किया ये सब आत्मनिरीक्षण से पता चलेगा आप इस सुने हुए के अनुसार और दर्शनों में पढ़े हुए के अनुसार वेद मंत्रों का अर्थ समझने सुनने के पश्चात यदि उसके अनुरूप प्रयत्न प्रयास नहीं करेंगे तो ये सुनी ये पढ़ी ये आवृत्ति की हुई विद्या आपका विशेष भला नहीं कर सके आज की स्थिति के अनुसार क्या आप अपनी रक्षा के लिए बाहर की रक्षा के लिए कोई प्रयास करते हैं अर्थात क्या आपने कोई व्यक्ति बाहर से आपकी पिटाई करने आ जाए तो उसके प्रतिकार के लिए कुछ प्रशिक्षण ले रखा है या नहीं आप में से लाठी को चलाना कौन कौन जानते हैं एक दो तीन बस औरों को सिखाया ही नहीं जाता या ये सीखना नहीं चाहते या इसकी आवश्यकता नहीं हाँ जी बोलो जो ये मानते हैं आवश्यकता नहीं है वो बताओ अपना विचार जो आवश्यक मानते हैं वो बताओ अपना विचार हाथ खड़ा करो ऐसे तो पता नहीं चलता तो आप में से सिखाने वाला नहीं सिखाता हो ये बताओ सिखाने वाले कौन कौन है आप में हुँ? हम्म? एक और सीखने वाले कौन कौन है कौन कौन चाहते हैं सीखना तो क्या नियम बनाएंगे प्रतिदिन पंद्रह मिनट कुछ बीस मिनट सीखना अथवा सप्ताह में एक दिन सीखना कौन सा ठीक रहेगा हुँ? कौन सा अनुकूल रहेगा है इससे दो लाभ होते हैं लाठी कैसे चलाएं अपना बचाव कैसे करें दूसरे को कैसे मार के हटाएं और इसे व्यायाम होता है शरीर का व्यायाम होता है आप हाथ में लाठी लेकर के दोनों ओर घुमाइए एक दो चार बार इस और एक दो चार बार एक दो चार पांच मिनट में पसीना आ जाएगा आप घुमा के देख लो यानी जचती है बात है जी हाथों में कितना बल आ जाता है व्यायाम कितना होता है पशु आक्रमणकारी जैसे पागल कुत्ता आ गया आप ध्यान देना आपके पास ऐसी लाठी ही नहीं है आप उसको रोक सके टूट फूटने वाली नीलगिरी की लकड़ी ले रहे हैं आप सीखने के लिए नीलगिरी की लकड़ी काम दे सकती है पर जहां अपनी रक्षा और दूसरे को हटाने के लिए ये लाठी अच्छी बांस की लाठी होंगी वो काम दे सकती है अब आप देख सकते हैं चाहे जहां पागल कुत्ता आ गया आपके सामने लाठी आप रखते ही नहीं अच्छा कुछ आप में कौन सुना रहा था कि यदि डरने वाले लाठी रखते थे कौन कहता है ऐसी बात कौन कौन है नहीं पता चला है हाँ जी आप बोलो नहीं बताना है सबको अच्छा व्यक्तिगत दोष बताने में डरते हो आप तक आपका डर ही नहीं निकला बताने में और सुनने में डर दोनों निकाल दो नहीं तो आप दोष नहीं बताओगे आडम्बरी छली कपटी बन जाओगे दूसरों के दोस्त तो नहीं बताने चाहिए अपने नहीं ऐसे नहीं बताने समाज सुधार के लिए ये बात जब पूछी जाती है सबके सुधार के लिए जो बात बताई जाए उसमें दूसरे के दोष देखना नहीं एक व्यक्ति चोरी करते देखा आपने ब्रह्मचारी और देख भी लिया ये चोरी करता है वहां से वो तोड़ दिया नींबू तोड़ के ले आया कल्पना करो या पपीता तोड़ के खा गया और पूछा जाए कि आप में से कोई चोरी तो नहीं करता चोरी करने वाला तो बता नहीं रहा और देखने वाला कहता मैं दूसरे के दोष नहीं देखता समाज को हानि होगी या नहीं होगी तो इस स्तर पर दोष बताने पड़ते हैं मैंने इसको ऐसा करते हुए देखा है तो हमारी सब एक व्यक्ति आप में से चोरी करते पकड़ा गया नींबू तोड़ते पपीता कहेंगे ये ब्रह्मचारी चोरी करते हैं सारों पर कलंक लगेगा अब सब का कुप्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर तो आपने कभी स्थिति देखी हो पागल कुत्ते की अध्ययन किया वो चलता है सीधा बाएं दाए कम मुड़ पाता है वो सपूर्ति वो नहीं रहती बाएं दाए सीधा टक्कर में आएगा उसको फाड़ खाएगा <laughs> आप समझे नहीं समझे जब अच्छी तरह पागल हो जाए तो पूछ उसकी नीचे लुढ़क जाती है नीचे ऐसी ढीली लटकती है और एकदम काटने की स्थिति में आता है आप लाठी चलाना जानते हैं तो आप बचेंगे बचने के भी ढंग है एक तो लाठी चलाओ उसके मुंह के सामने जाके खड़े हो जाओ <laughs> नहीं समझ में आया और एक लाठी चलाओ और बाय दाए हट जाओ नहीं आ समझ में वो टक्कर मारेगा तो बाय दाए चला जाएगा और आमने सामने सीधा होने पर वो आएगा टक्कर तो हमें कुछ न कुछ आक्रमण करेगा काट खाएगा दूसरी स्थिति क्या होती है कई बार रीछ की बात सुनी होगी भी अपना आक्रमण करता है और आप रीछ को सीधा लाठी लेके मारिए वो मुंह में पकड़ देगा और आप कुछ नहीं कर सकते लाठी को नहीं आई समझ में बात नहीं आ रही समझ में आप कुछ नहीं करते और हो सकता है झट लाठी को छोड़ के आपको काट ले अब वो व्यक्ति क्या देखता है ये लाठी ऐसी चलाई इसके सिर और मुंह की ओर सीधी तो ये मुंह में पकड़ सकता अब वो ऐसे तिरछी लाठी चलाता जब ऐसे ऐसे चलाएगा तिरछी तो मुंह से नहीं पकड़ पाएगा कुत्ता भी कई बार ऐसा कर देता और अभ्यास के बिना और धैर्य के बिना कई बार व्यक्ति लाठी हाथ में को लगा चला ने हाथ से छोड़ बैठा <laughs> आप देख सकते हैं इतनी ढीली पकड़ रखी है उन्हें लाठी चला जा हाथे छोड़ बैठा तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हाथ से लाठी छूटने जाए दूसरी बात मोटे से क्षेत्र में जब दाए बाए आगे पीछे आपके हाथ में लाठी है आप लाठी चलाते भी हैं आप लाठी सीखते भी हैं जो सामान्य आक्रमणकारी व्यक्ति होते हैं वो डरते हैं उससे आपने पंचतंत्र की कथा सुनी है किसी किसने शिकायत की थी सांप ने शिकायत की थी व्यक्तियों का दोष बताया था क्या बताया था ये बता रहा था देखो ये जो व्यक्ति मुझे देखता है तत्काल मारना चाहता है समाप्त कर देना चाहता है सांप ने शिकायत की उस व्यक्ति ने कहा कि देखो आप काट लेते हो और फिर व्यक्ति बड़े आप दुख का अनुभव करते या मर जाते आप काटना छोड़ दो नहीं समझे आप कल्पना से एक बनाई जाती है कथा जी तो सांप ने काटना छोड़ दिया और काटना छोड़ दिया जो आए वही उसके कोई पत्थर मारे कोई ढेला मारे कोई कुछ मारे आए वही ढेला पत्थर और वो पिटता रहा लुटता रहा तो फिर कहने लगा देखो आपने तो ये कहा था कि इनको काटना छोड़ दो मैंने तो सब छोड़ दिया मुझे मारने के सिवाय कुछ बात ही नहीं करते उन्होंने कहा आप फुकारा तो मारते होंगे कम से कम डराने के लिए उन्होंने कहा नहीं मैं फुकारा भी नहीं मानता अब मैंने ये कब कहा था फुकारा मारना भी छोड़ दिया छोड़ देना काटना छोड़ देना फुकारा मारते रहना दूसरे डर के दौर बचे रहेंगे ये बाहर का फुकारा भी व्यक्ति को बचा देता है जब आपके हाथ में लाठी दिखाई देगी जब लाठी चलाएंगे तो साधारण व्यक्ति तो सोचेगा हमारी पिटाई होगी हमने इनको छेड़ दिया था तपोवन में भयंकर घटना घटी थी पिछले दिनों और वहां वही बात थी थोड़े होना विधिगति नहीं आना और वो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कितनी बुरी तरह पिटाई करते और बुद्धिमत्ता चाहिए कई बार आक्रमणकारी की बहुत अधिक शक्ति होती है वहां बुद्धिमत्ता से देखना पड़ता है इसको छेड़ना नहीं चाहिए हम इसको यही जो कुछ है ठीक है एक व्यक्ति कहता उसको क्रोध आ गया उसने जट मार डाला कुछ कर दिया और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया उसके इतनी बात तो थी अब उसको ये देखना है कि मैं इनको छेड़ू या नहीं छेड़ू आक्रमणकारियों को तो छेड़ने वाला व्यक्ति अकेला जैसा और वो गांव के गांव के लोग इकट्ठे पिटाई करने वाले तो बहुत बुरी तरह मारा और एक व्यक्ति तो बस जी गया वो इतना मारा उसको उसने भी ये क्या भूल की अकेला ऐसे था दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह गिर गया और वो अपना खूंखार करता हुआ आगे बढ़ा इतने लोगों के आगे सामने आया इस ढंग से कि मैं मारूंगा ये करूंगा वो करूंगा क्या ये वो करेगा इतने लोगों के सामने वो व्यक्ति फिर उन्होंने सोचा इसको ठिकाने लगाओ तो इतना मारा बस बच गया इतनी पिटाई की उसकी भाई उसने चुपचाप कहते भाई मैं कुछ नहीं करता मैं, मैंने लड़ाई का मेरा विचार है ना झगड़े का कुछ नहीं ठीक है तो बच सकता है अधिक शक्ति होती है ना तब की बात है कि आप चाय जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और पिटते रहो दूसरा भाग आप ये मंत्र पढ़ते हो उच्चारण सीखते हो आप मंत्रों का अब ये विद्या का क्षेत्र है जितना उच्चारण अच्छा सीखेंगे आप अच्छा पढ़ेंगे आप उससे आपकी विद्या बढ़ेगी उच्चारण ठीक होगा अर्थ समझने में सुविधा होगी मंत्र कंठस्थ हो जाएंगे और यदि ऐसा नहीं करेंगे ना आपको मंत्र बोलने आएंगे ना उच्चारण ठीक होगा ना अर्थों का विचार कर सकेंगे ये विद्या का क्षेत्र है आपको एक बात बताई थी एक नियम के रूप में प्रतिदिन जिस मंत्र का प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं उसको प्रतिदिन प्रत्येक ब्रह्मचारी अध्याय स्वाध्याय के रूप में पढ़ के आएगा आप करते हैं या नहीं करते बताओ कौन कौन करते हैं और नहीं करने वाले कौन है आप क्यों नहीं करते छूट जाता तो दिन क्या दंड लेते हो आप कठोर दंड होगा जब मानेंगे आप नहीं तो मान नहीं सकते आप इतना सरल स्वभाव नहीं है आपका कहने से मान जाओ ये क्या बात है जब सर्वहितकारी बात अत्यंत उपयोगी बात कार्य और बताया जाता है और आप कहते छूट जाता है क्यों छूट जाता है घी दूध फल भोजन खाना क्यों नहीं छूट जाता उसको भूलता ही नहीं व्यक्ति आप यदि इस दृष्टि से सोचेंगे तो ये पढ़ाई सुनाई सिखाई विद्या आपके काम में नहीं आएगी और सिखाने वाला पढ़ाने वाला बताने वाला व्यक्ति भी सोचेगा इन व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है ये पात्र नहीं है पात्र व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं उसका दिमाग ये होगा उसका परिणाम ये होता है प्राय पढ़ाने वाला व्यक्ति सोचता है ये जितना इनको सिखाया पढ़ाया जाता है तो कुछ भी नहीं करते व्यर्थ अपना तन मन धन लगाना इनके लिए तो वो पढ़ाना ही छोड़ देता है उपदेश करना ही छोड़ देता परिणाम ये निकलता ये उल्टे व्यवहार से होता है उल्टा व्यवहार करो तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि और कहीं समय लगाया जाए और संसार का उपकार करो ये परिणाम निकलेगा उसका और आपका जीवन जो है उसकी दुर्गति होगी अच्छी गति नहीं हो सकती आप आपको सुनाया था ये व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है इतना बुद्धिमान मानता है पूरे संसार को अपने से कम बुद्धि वाला मानता है एक थोड़ी सी व्यंग्यात्मक भाषा में कई लोग सुनाया करते हैं घमंडी अभिमानी व्यक्ति तीन विभाग बना लो सारे संसार की बुद्धियों के तीन में से ढाई गुना अपनी बुद्धि आधा गुना सारे संसार की बुद्धि क्या समझ में आया दोहरा लो कुछ तो याद होगा माता जी क्या आया समझ में नहीं सुनाई देता हाँ जी क्या समझ में आया सारे संसार की बुद्धि को अथवा ज्ञान को तीन भागों में उसने बांट दिया और उसमें से ढाई अपनी मान ढाई बुद्धि गुना तो अपनी बुद्धि है और आधा तीन में से संसार के सारे लोगों की बुद्धि है ये घमंडी अभिमानी व्यक्ति जिसका दिमाग ठिकाने नहीं है वो सोचता और ये व्यक्ति जिज्ञासु सोचता है मेरी तो कुछ भी बुद्धि नहीं कितने बुद्धिमान है कितने कितने बड़े बड़े विद्वान है ईश्वर में इतना ज्ञान है कोई सीमा ही नहीं है तू क्या जानता है वो ऐसे सोचता है और बात सुनता है वो मानता है उसको रुचि से सुनता है अपने जीवन में डालने का वो व्यक्ति सुधरता जाता है आपने सुना था मैंने सुनाया था कितने लोग ये कहते हैं इतना सिखाने पर इतना पढ़ाने पर इतना प्रशिक्षण देने पर भी इन पढ़े लिखे ब्रह्मचारियों की समाधि क्यों नहीं लगती ये प्रश्न सामने आएगा आता है आता ही रहता साधक जी आपको भी ले रहा हूं कभी सोच लो कि मैंने छोड़ रख, मुझे छोड़ रखा है आई बात समझ में ईश्वर आत्मदेव जी हैं मैंने बतलाया देखो बात तो अनेक है इनका दिमाग पढ़ने वालों का पढ़ने पढ़ाने पर भी अपनी बात ऊपर और गुरु की बात नीचे इसलिए वो समाधि नहीं लगती एक कारण है जितनी बातें सिखाई जाती है ये साधन है ये बाधक है उनमें से जो जो उसको अनुकूल दिखती है उसको तो अपना लेता है जो जो प्रतिकूल दिखती है उसको वो नहीं अपनाता अथवा अपना मंतव्य सिद्धांत बना हुआ है वो उसके विरुद्ध आचार्य की बात गुरु की बात मानने के लिए तैयार नहीं है अपना मंतव्य है उसका फिर वो समाधि नहीं लगेगी समाधि लगने की स्थिति तो यह है जो इस विद्या को बताने वाले गुरु आचार्य हैं उसको ज्यो का त्यों करो ये संशय जहां हो वहां पूछो ये मत नहीं है कि संशय हो तो मत पूछो संशय वहां हो पूछना चाहिए पर कितनी बार अपनी बात गुरु की बात टकराती है वो कहते हैं ऐसा करो वो कहते हैं ऐसा मुझे नहीं आता